परम पिता परमात्मा का स्मरण निर्विकार दोषों से रहित अत्यंत शुद्ध पवित्र निर्मल परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों प्रत्येक धर्मात्मा मनुष्य ये चाहता है कि उसमें से दोष दूर हो जाए दोषों को दूर करने की क्या प्रक्रिया हो उसमें परमात्मा की सहायता होती है या नहीं कैसे होती है इत्यादि वेदों के अंदर मंत्रों में परमात्मा ने कृपा करके हमारे लिए लिखा है आज का मंत्र परमात्मा की दोष निवारण क्षमता को दृष्टि में रखते हुए स्तुति रूप है ये मंत्र यजुर्वेद के आठवें अध्याय का तेरहवा मंत्र है और महर्षि दयानंद ने इसे आर्याभिविनय में द्वितीय प्रकाश में उन्नीसवें स्थान पर दिया है मंत्र में बहुत सारे वाक्य लगभग एक जैसे हैं एक एक शब्द का परिवर्तन है पहला वाक्य है परमात्मा की पहली स्तुति है देव कृतस्य ए नसो अवयजनमसी देव कृतस्य ए सह अवयजनम असी असी आप हो परमात्मा को कहा जा रहा है एक आर्य जानकार धार्मिक व्यक्ति बोल रहा है हे परमात्मा आप कृतस्य देव के द्वारा किए गए देवों के द्वारा किए गए ए न सह पाप के अवयजनम दूर करने वाले नष्ट करने वाले हो हे परमात्मा आप देवों के द्वारा किए गए पापों के दूर करने वाले हो विनाशक हो और इसी तरह अगली पंक्ति में कहा मनुष्य कृतस्य एन सह अवय जनम असी मनुष्य के द्वारा मनुष्यों के द्वारा किए गए पाप को भी दूर करने वाले आप हो अगली पंक्ति में कहा पितृकृतस्य एन सह अवय जनम असी पितरों अर्थात महाविद्वानों वरिष्ठों के द्वारा किए गए पापों के भी दूर करने वाले आप ही हो आगे कहा आत्मकृत एनसो अवय जनमसी मेरे द्वारा किए गए पाप के दूर करने वाले भी आप ही हो चार स्थितियां बताई देव मनुष्य और पितृजन ये अन्य हुए और स्वयं को भी ले लिया मेरे भी जो पाप हैं उसको आप दूर करने वाले हो और इस प्रकार कहा एन सह एन सो अवय जनमसी प्रत्येक पाप के दूर करने वाले आप ही हो एन सह एन सह ये दो बार कथन वीपसा में किया गया प्रत्येक पाप के प्रत्येक अपराध के एक एक अपराध के दोष के दूर करने वाले आप हो ए न सह ए न सह अभय जनमसी और आगे एक बात कही यच्च अहम एनो विद्वांस चकार जिस पाप को मैंने जानते हुए किया है जानबूझ कर किया है जानता हूं कि यह गलत है फिर भी किया है यच्च अहम एनो विद्वांस चकार और इसी शैली में इसके विपरीत आगे कहा यश्च अविद्वान और जिस पाप को मैंने न जानते हुए किया है अनजाने में किया है तो चाहे मैंने जान के पाप किया है चाहे अनजाने में किया है उन सब पापों के दूर करने वाले हटाने वाले आप हो और उस सब के लिए कहा आगे तस्य सर्वस्य एन सह अवय जनमसी उस सारे पाप के जो भी हैं उन सब पापों को दूर करने वाले आप ही हो इस मंत्र में महर्षि ने परमात्मा को संबोधित किया सर्व पाप प्रणाशक हे सर्व पाप प्रणाशक सब पापों को दूर करने वाले एनस को पाप शब्द से महर्षि ने खोला है एनस शब्द इणगत धातु से बनता है ईयते प्राप्यते दुखम अस्मात इति एन जिससे हमें दुख प्राप्त होता है उसे एनस कहते हैं पाप कहते हैं ईयते प्राप्यते दुखम अनेन जिसके द्वारा हमें दुख कष्ट प्राप्त होता है वह सब का सब एनस है पाप है जितना भी गलत आचरण है गलत वस्तुएं हैं व्यवहार है वो सब एन पाप के अंतर्गत आएगा और उसको पाप भी इसीलिए कहा कि इनसे हमारा पतन होता है हम गिरते हैं नीचे जाते हैं हमें बाधा होती है और एन शब्द पाप और अपराध इन दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है अपराध भी पाप ही होता है दोष होता है तो यहां महर्षि ने परमात्मा को पाप को दूर करने वाला कहा है ये पाप किस रूप में देखे जा रहे हैं हम ये सुनते समझते रहे हैं कि हमने जो पाप किए हैं वो भोगने पर ही समाप्त होते हैं बिना भोगे वो समाप्त नहीं होते तो हमें प्रतीति होती है भोग भोग लेने पर दंड ले लेने पर वो पाप स्वतः समाप्त हो ही जाएंगे तो परमात्मा पापों को नष्ट करने वाला पापों से दूर करने वाला कैसे इस मंत्र में कहा जा रहा है तो एक तो पाप होते हैं हमारे कर्माशय वाले जिसे हम भाग्य के अंतर्गत गिनते हैं जो हमारे कर्म संचित होते हैं अच्छे और बुरे दोनों उसमें जो बुरे कर्म हैं जो संचित हुए हुए हैं उन्हें भी पाप या एनह कहा जाता है लेकिन महर्षि का यहां क्या अभिप्राय है वो महर्षि की पंक्तियों से भी हमें पता लगता है यदि हम ये मान लें कि हमारे पाप हैं वो परमात्मा नष्ट कर देता है समाप्त कर देता है तो ये एक महर्षि की विरुद्ध बात हमें लगेगी जिस प्रकार से लोग विभिन्न तीर्थों में जाकर के स्नान करके अथवा कुछ पूजा पाठ करके दान देके अपने पापों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं ऐसा समझते हैं कि इससे हमारे पाप समाप्त हो जाएंगे महर्षि ने इस सब का निषेध किया है ऐसे पाप समाप्त नहीं होते तो फिर परमात्मा हमारे पाप समाप्त कर देता है हमारे से हटा देता है वो कैसे तो क्या यहां उन कर्माशय वाले पापों की बात की जा रही है वो भी लिया जा सकता है लेकिन उससे अतिरिक्त भी पाप होते हैं जिन्हें हमें यहां ग्रहण करना चाहिए वो महर्षि का अभिप्राय व्याख्यान के अंतिम वाक्य में महर्षि लिखते हैं इससे हमारे अविद्यादि सब पाप छुड़ा के शीघ्र हमको शुद्ध करो पाप को बताते हुए उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कौन से पाप अविद्या आदि पाप यदि पाप का अर्थ हम केवल कर्माशय लें तो उसमें तो अविद्या का ग्रहण नहीं हो पाएगा महर्षि ने जो उदाहरण दिया अविद्या इससे पता लगता है कि यहां पाप का मतलब मात्र कर्माशय वाला पाप नहीं है कर्माशय वाले पाप को भी हम यहां ले सकते हैं क्योंकि यहां अविद्या आदि आदि शब्द भी पढ़ा है और अविद्या किस रूप में पाप है अविद्या एक दोष है अविद्या एक न्यूनता है अविद्या हमें दुख देती है इसलिए वो एनह कहलाती है जो जो भी हमारा दोष है वह सब एनह में कहलाएगा पाप के अंतर्गत आएगा और चूंकि अविद्या सब पापों का आधार है क्षेत्र है इसलिए यहां अविद्या को सर्वप्रथम महर्षि ने लिख दिया है अविद्या और अविद्या जन्य जितने भी हमारे दोष हैं वे सब पाप के अंतर्गत आएंगे मंत्र में लिखा कि विद्वान और अविद्वान अवस्था में मैंने जो पाप किए हैं तो जानते बूझते भी हम करते हैं और अनजाने में भी करते हैं ये दोनों तरह के पाप क्या अविद्याजन्य होते हैं तो एक तरफ प्रारंभिक रूप से हमें लगेगा कि जो अविद्वान होते हुए पाप किए जाते हैं वो तो अविद्याजन्य है लेकिन जो विद्वान होते हुए पाप किए जाते हैं वो अविद्याजन्य कैसे हो सकते हैं क्योंकि विद्वान शब्द ही इस बात को बता रहा है कि वो जानने वाला है जानने वाला है तो उसमें अविद्या नहीं है लेकिन गंभीर अर्थ देखें तो अनजाने में जो पाप किए जाते हैं वो तो अविद्याजन्य होते ही हैं विद्वान होते हुए भी जो पाप यहां मंत्र में कहे गए हैं वे सब भी अविद्याजन्य ही होते हैं जानते बूझते जब कोई गलत कर्म किया जाता है वहां भी इतना तो ज्ञान है कि ये गलत कर्म है लेकिन ये अविद्या वहां फिर भी है कि इससे मेरे को हानि होगी ये उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है वो उसको लाभदायक मान के ही कर रहा है गलत मानता है वेदों ने गलत कहा होगा लोग गलत कहते होंगे विद्वान गलत कहते होंगे समाज उसे गलत कहता होगा लेकिन वो उसे लाभकारी समझ रहा है तो विद्वान होते हुए भी जो पाप किए जाते हैं उनके भी मूल में अविद्या होती है इसलिए किस पाप को दूर करने की बात यहां कही गई अविद्यादि सब पाप छुड़ा करके तो यहां अविद्या और तजन्य जितने भी दोष हैं पाप हैं राग द्वेष अहंकार लोभ क्रोध मोह जो भी हमारे दोष हैं वे सब पाप के अंतर्गत यहां अभिप्रेत हैं और जो कर्माशय वाला पाप है वो भी यहां पर अभिप्रेत है उसे भी लिया जा सकता है मंत्र में कहा देव कृतस्य एन सह अवयजन मसी अवयजन का क्या मतलब इसमें दो शब्द हैं एक अव और एक यजनम अवयजनम यजनम में यज धातु है यज धातु का अर्थ होता है देव पूजा संगतिकरण और दान इनमें जो संगतिकरण वाला अर्थ है वो यहां पर गृहित होगा और अव का मतलब होता है दूर करना पृथक करना नीचे ले जाना नीचे की तरफ को भी कहते हैं जैसे कि हम कहें कि अवतरण अवतीर्य नीचे जाकर के और पृथक और दूर करने अर्थ में भी अवशब्द का प्रयोग होता है निरुक्त में न्यव नी और अव इन दो के लिए अर्थ खोला न्यव विनिग्रहार्थे विनिग्रह अर्थ में है ये नी और अव इसमें दो अर्थ छुपे हुए हैं विनिग्रह में ग्रह तो धातु है ग्रह शब्द है धातु है और वी और नी ये दो साथ में लगे हुए हैं तो इसको अलग अलग देखा जाता है एक होता है विग्रह और एक है निग्रह दो दो शब्द पढ़े निरुक्तकार में न्यव इसमें पहले नी है फिर अव है लेकिन विनिग्रहार्थ में पहले वी है फिर नी है ये क्रम का भेद है क्रम बदल करके इनके अर्थ यथा संख्या लगेंगे तो अब का अर्थ हुआ विग्रहार्थे विग्रह अर्थ में है और विग्रह का क्या अर्थ होता है विच्छेदेन ग्रहणम विग्रह जैसे हम संस्कृत के शब्दों में संधि के बाद में विग्रह करते हैं अलग अलग करना है विच्छेद रूप में ग्रहण करना यह विग्रह है तो अवयजनम यजनम यजन का मतलब है संगतिकरण हम संगतिकरण अच्छे अर्थों में ही लेते हैं अच्छे अर्थों में होता है लेकिन यहां अव पृथककरण साथ में जोड़ दिया गया है इसलिए ये जो संगतिकरण है ये कुछ निंदित संगतिकरण है निंदित जुड़ाव है गलत चीज का जुड़ाव संयोग निकटता है और यहां चूंकि ए न सह अवय जनमसी ए न है तो पाप है वो गलत चीज है लेकिन संगतिकरण तो उसका भी हो चुका है वो भी हमारे निकट आ चुका है वो देवकों के पास जा चुका है वो मनुष्यों के पास है वो पितरों के पास भी है उनसे जुड़ चुका है संगतिकरण है तो उनके पाप के संगति को अब अलग करने वाले आप विग्रह करने वाले आप यजनम में यज धातु से ल्युट प्रत्यय करके यजनम बना है यहां पर ल्युट प्रत्यय हम करण अर्थ में लेंगे अब यजन का जो साधन है यजन का जो साधन है पृथक करण का जो साधन है वह अब यजनम कहलाएगा ल्युट प्रत्यय भाव में बहुत होता है लेकिन यहां क्योंकि परमात्मा को दे अवयजनम असी अवयजन हो आप तो परमात्मा आप पृथककरण हो या पृथक हो इतने मात्र से यहां अर्थ नहीं बनेगा आप पाप को दूर करने वाले हो पाप को दूर करने के साधन हो करण हो आप बहुत बार ये बात चलती है लोगों के बीच में हमें परमात्मा को मानने की क्या आवश्यकता है हम वैसे ही अच्छे कर्म कर रहे हैं सज्जन है हम किसी को दुख नहीं देते हम किसी का छीनते नहीं है मेहनत से कमाते हैं और अपने धन का उपयोग अपने लिए करते हैं उपकार भी करते हैं परमात्मा को मानने की क्या आवश्यकता है परमात्मा को माने बिना दोष दूर नहीं हो सकते कितना ही अच्छा व्यक्ति हो दोष उसके दूर नहीं होंगे यदि परमात्मा को स्वीकार नहीं किया है उसने इस मंत्र के देवता क्या बताए गए हैं गृहपत विश्व देवा जो घर के पति हैं स्वामी हैं घर का स्वामी ये सोच सकता है कि मेरे से क्या दोष होगा मैं तो संचालन करने वाला हूं मैं तो दूसरों को निर्देश करने वाला हूं मैं तो दूसरों की रक्षा करने वाला हूं गृहपति हूं और महिला भी सोच सकती है मैं गृह स्वामिनी हूं मेरे में कहां से दोष हो सकता है दोष तो अन्यों में हो सकता है लेकिन इस मंत्र का देवता गृहपति है और उन्हीं के साथ दोष बताया जा रहा है और दूसरे देवता हैं विश्व देवा बाकी सारे देव जितने भी हैं जिनको भी हम श्रेष्ठ समझते हैं वो इस मंत्र का देवता है मंत्र के देवता है विषय है मंत्र का ये पाप किन में बताया जा रहा है देवताओं में बताया जा रहा है देव शब्द मंत्र में पहले वाक्य में कहा फिर मनुष्य भी कहा जो मध्यस्थ हैं मध्यम स्तर पे अपना जीवन जी रहे हैं उनमें भी बहुत सी श्रेष्ठताएं होती हैं और पितर शब्द भी कह दिया तो हम ये ना समझ लें कि कोई देव है पितर है मनुष्य है मननशील है तो वो दोषों से रहित है दोष उसमें भी है और हम देव बन गए हैं विद्वान बन गए हैं पितर बन गए हैं तो हम ये सोचें कि हमारे में दोष नहीं है हमारे में दोष नहीं हो सकते ये भी बात नहीं है वेद का मंत्र स्पष्ट संकेत कर रहा है कि समस्त देवों में पाप हो सकते हैं दोष हो सकते हैं हम सामान्य मनुष्यों को छोटों को भले ही लगता हो कि ये बड़े हैं और ये दोषों से रहित हैं लेकिन ये वास्तविकता नहीं है कितना ही बड़ा व्यक्ति हो कितना ही बड़ा विद्वान हो कितना ही साधक हो कितना ही बड़ा योगी हो कितना ही बड़ा ऋषि हो दोष उसमें हो सकते हैं और उनके दोषों को भी दूर करने वाले परमात्मा आप ही हो सामान्य व्यक्ति के मन में हो कि मेरे दोष परमात्मा दूर करेगा और ये विद्वान और पितर ऋषि लोग हैं इनके दोष तो ये स्वयं ही कर लेंगे दूर क्योंकि ये विद्वान है क्योंकि ये अनुभवी है वेद का संकेत है इनके दोष भी ये पूरी तरह दूर नहीं कर सकते यदि इन्होंने भी परमात्मा को छोड़ दिया है तो इनके दोष दूर नहीं हो सकते ये परमात्मा की कृपा है कि वही इनके दोषों को दूर करता है और इस मंत्र का ऋषि भारद्वाज है जिसने इस मंत्र का साक्षात्कार किया वो कैसा बन गया वो भारद्वाज बन गया भारद्वाज शब्द जो है वो भरनाथ भारद्वाज वो भरण कर लिया है उसने भरण करने के कारण भारद्वाज है भरद्वाज और भारद्वाज एक ही अर्थ में भी है और भरद्वाज का जो पुत्र है अपत्य है वो भी भारद्वाज कहलाता है नहीं तो भरद्वाज और भारद्वाज एक ही अर्थ में उसने कुछ भरण कर लिया है भर लिया है अपने अंदर क्या भर लिया है वाज ज्ञान बल अन्न आदि श्रेष्ठ बातें श्रेष्ठ गुण जिसने अपने अंदर भर लिए हैं वो है भरद्वाज और वो इसका ऋषि है ये भरद्वाज कैसे बना या हम भी भरद्वाज कैसे बन सकते हैं विभिन्न ऋषियों में भरद्वाज नाम के एक ऋषि बहुत प्रसिद्ध हुए हैं और बहुत मंत्रों के ऋषि हैं ये ये ऋषियों की संज्ञा उनके गौणिक नाम भी हो सकते हैं होते हैं उनकी विशेषताओं के कारण उनको ये नाम दिए जाते हैं उनका अपना जन्म का जो भी नाम हो समाज ने जो भी नाम दिया हो उसके अतिरिक्त ये नाम भी विशेषण रूप में दिए जाते हैं तो ये ऋषि भरद्वाज बना है कैसे इस दर्शन को प्राप्त करके इस दृष्टि को प्राप्त करके कि वो सबको दोषों से युक्त देख रहा है इसका निहितार्थ है हर व्यक्ति में दोष हो सकते हैं इस सत्य को हमें स्वीकारना चाहिए आर्य को इस सत्य को स्वीकारना चाहिए कार्य आंख बंद करके नहीं चलेगा कि ये बड़े परम पूज्य हैं बड़े विद्वान हैं चारों वेदों के ज्ञाता हैं इनसे कोई दोष नहीं हो सकता ये आर्य की दृष्टि नहीं है आर्य ऋषियों के प्रति पूर्ण आदर रखता है विद्वानों के प्रति योगियों के प्रति उनसे प्रेरणा भी लेता है लेकिन वो इस सत्य को भी जानता है कि इनमें भी दोष हो सकते हैं और इनके भी दोषों को दूर करने वाला वह परमात्मा है और इससे यह भी संकेत मिलता है कि इन पापों के होते हुए भी दोषों के होते हुए भी ये देव कहला सकते हैं ये देव कहलाने के योग्य हैं यदि दोष दृष्टि रही और हम उनमें दोष देखेंगे और उस दूसरे पक्ष में चले गए तो हम कहेंगे ये कैसा व्यक्ति है ये तो देव हो ही नहीं सकता ये तो पितर हो ही नहीं सकता इसे तो मनुष्य कह ही नहीं सकते ये एक दूसरा छोर है ये भी एक अति है और ऐसा देख करके हम उस व्यक्ति से फिर ग्रहण नहीं कर सकते देवों में पितरों में कोई दोष नहीं है ये एक अति है आंख बंद करके उनकी प्रत्येक बात को स्वीकार करते चले जाना ये आर्य का लक्षण नहीं है आर्य इस अति में भी नहीं रहेगा और आर्य इस अति में भी नहीं जाएगा कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं और जिसमें दोष है उस व्यक्ति को ही मुझे स्वीकार नहीं करना है क्योंकि आर्य तो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ को ही वो ग्रहण करना चाहता है जिस जिस में भी जिस जिस मनुष्य में दोष है वो उसे स्वीकार्य नहीं है उनको पृथक करता जाता है उनको उपेक्षित करता जाता है आर्य इस अति में भी नहीं जाएगा वेद का सीधा संकेत है देव कृतस्य एन सह अवय जनमसी अधिकरण सिद्धांत हम इससे समझ सकते हैं एक को देव भी कहा जा रहा है और पापों से युक्त भी कहा जा रहा है उसके पाप भी हो रहे हैं दोष भी हैं न्यूनता भी है तो स्पष्ट सिद्धांत है ईश्वर का आदेश है ईश्वर का निर्देश है कि दोषों से युक्त व्यक्ति भी देव हो सकता है देव व्यक्ति में भी दोष हो सकते हैं होते हैं तो इससे आर्य एक सम्यक दृष्टि को प्राप्त होता है और वो फिर अपना व्यवहार ठीक कर पाता है देवों से पितरों से अन्य मनुष्यों से वो सीख सकता है उसे उनकी महत्ता भी पता है लेकिन सावधान भी है उनके दोष भी नहीं आने देगा सावधान रहेगा हर बात को तोल तोल के लेगा कि उचित है तो लूंगा और दोष है तो नहीं लूंगा अब यहां पर देव का अर्थ महर्षि ने इंद्रिय विद्वान और दिव्य गुण युक्त ये तीन किए हैं इंद्रियां भी देव हैं इंद्रियों से कितना ही हमें अच्छा ज्ञान हो रहा हो लेकिन उसमें भी दोष है इंद्रियों से जो जाना जा रहा है वो दोष रहित हो ऐसा नहीं कह सकते वहां भी दोष हो सकता है ये सावधानी रखनी है आर्य को इंद्रियों से दोषपूर्ण जाना जाता है फिर भी वो देव हैं वो हमें बहुत कुछ सत्य सत्य जनाती हैं उन इंद्रियों को प्रमाण के रूप में हमें लेना ही होता है तो ये इंद्रियां देव भी हैं लेकिन दोष से युक्त भी हैं एक वास्तविकता है ऐसे ही विद्वान और दिव्य गुण वाले सब मनुष्य अब यहां पर परमात्मा को यह कहा गया कि वो इनके पापों को दूर करता है इनके एनस को दूर करता है कैसे करता है कैसे करता है उसका उल्लेख यहां नहीं है वो अन्य मंत्रों में अन्य स्थानों पर मिल जाएगा मिल सकता है यहां केवल ये संकेत किया कि परमात्मा इनके एनह को दूर कर देता है अब पाप का अर्थ दोष का अर्थ जब हम अविद्या लेंगे अज्ञान लेंगे तो परमात्मा ही हमारे अज्ञानों को दूर कर सकता है परमात्मा को स्वीकार करने पर ही हमारी सारी अविद्या दूर होगी परमात्मा को एक तरफ रख के कितना भी पढ़ लें कितना भी अनुभव कर लें जिंदगी को सुख दुख सब जितनी बुद्धि लगानी हो वो लगा लें अब इत्या दूर नहीं होगी भिन्न भिन्न अंशों में दोष बने रहेंगे उलझने बनी रहेंगी यदि हमें अपने सारे दोष अविद्या आदि को दूर करना है तो परमात्मा को सामने रख के ही चलना पड़ेगा उसके यथार्थ स्वरूप को जान करके ही चलना पड़ेगा तो इस प्रकार से परमात्मा को जब हम सामने रखते हैं तो हमारे अविद्यादि दोष दूर होते हैं इस तरह परमात्मा हमारे या देवों के दोषों को दूर करने वाला है देवता और पितर भी अपने दोषों को ऐसे ही दूर करते हैं परमात्मा को सामने रख के इस तरह परमात्मा दोषों को दूर करने का साधन है परमात्मा अंत है प्रेरणा दे करके धर्मात्माओं सज्जनों को मन में ठीक ठीक ज्ञान दे करके अविद्या आदि पापों को दूर करता है ऐसा कैसे हो सकता है कि परमात्मा की आज्ञा के अनुसार कोई चल रहा हो प्रयासशील हो और उसको गिरता देख करके परमात्मा सहायता ना करे उसको अंतःकरण में ज्ञान देके सहायता ना करे ऐसा परमात्मा कैसे हो सकता है जैसे कोई बच्चा युवक किसी के निर्देश के अनुसार चल रहा है पूरी तरह से और अपनी सामर्थ्य से वो जितना प्रयास कर सकता है कर रहा है और करते करते गिर जाता है भूल होती है तो माता पिता या अध्यापक उसकी भूल को सुधारने का प्रयास करते हैं उसको दंड नहीं देते तब जब उन्हें पता है कि पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं इसकी सामर्थ्य ही नहीं है उन उन सब स्थलों पर वो उसे बताते हैं देखो यहां ऐसे करो इससे ऐसे बचो तो परमात्मा हमें भी बीच बीच में समय समय पर जब आवश्यकता होती है निर्देश देता है दे सकता है वो समर्थ समर्थ है हम यदि चल रहे हैं तो तो इस प्रकार भी परमात्मा हमारे एन को अविद्या को दूर करता है पापों को दूर करता है और यदि इन्ह का अर्थ हम कर्माशय वाला पाप लें उसे भी परमात्मा ही दूर करता है क्योंकि हमारे पाप को भोगने के लिए परमात्मा ही हमें विभिन्न शरीरों में भेजता है ये परमात्मा की व्यवस्था ही है कि हम विभिन्न शरीरों में योनियों में जाकर के अपने कर्म का भोग कर लेते हैं और इससे हम पाप से मुक्त हो जाते हैं उस कर्माशय से पाप कर्माशय से मुक्त हो जाते हैं ये कौन कर रहा है ये परमात्मा ही तो कर रहा है हमारे इन सब पापों को दूर करने में साधन परमात्मा ही है ये परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हमारे पाप कर्माशय को क्षीण करने के लिए वो हमें विभिन्न शरीरों में भेजता है ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि उसने ये व्यवस्था कर रखी है नहीं तो हम पाप से युक्त होकर पड़े रहते और वो भी कह सकता था आप पापी हो आप दुष्ट हो पड़े रहो ऐसे की लेकिन उसने हमें अवसर दिया है ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अपने दोषों को दूर करने के लिए इतर योनियों में जा सकते हैं भेजे जाते हैं ये कोई दुख की बात नहीं है ये कोई हे बात नहीं है ये चाहने योग्य बात है इस प्रकार भी परमात्मा हमारे पापों को दूर करता है तो अभी एक पक्ष ये है कि हमने जो दोष किए हैं अन्यों ने जो दोष किए हैं उनके दोषों को हमारे दोषों को परमात्मा दूर करता है इस रूप में दूर करता है और एक है कि अन्यों ने जो पाप किया उससे जो हमारे को कष्ट हुआ देवता लोगों ने अज्ञानता से जो पाप कर दिया तो उन्होंने पाप किया है बुरा कर्म किया है अपराध किया है तो किसी के प्रति तो किया होगा अन्यों के प्रति किया अन्य मनुष्य साधारण मनुष्यों के प्रति विद्वानों ने अन्य शिष्यों के प्रति कर दिया है अन्य व्यक्तियों पे अविद्वानों के प्रति कर दिया है पितरों ने अपने बच्चों के प्रति छोटे परिवार के लोगों के प्रति कर दिया है वो भी तो पाप है उस रूप में भी इस मंत्र को देख सकते हैं कि इन इन श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो पाप किए गए हैं अन्यों के प्रति और अन्य उससे पीड़ित हुए हैं बाधित हुए हैं उसको भी दूर करने वाला उसका निवारण करने वाला भी वो परमात्मा है हमें जो कष्ट हो जाता है दूसरों के अन्याय से दूसरों के पाप से उसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा करता है उसकी भरपाई करता है नई सुख सुविधाएं दे करके अथवा जो हमारे कर्माशय में पाप हैं हमारे उनको भोगा हुआ मान करके उनको उनको छीन करके वो हमारी न्याय व्यवस्था करता है तो दोषयुक्त तो पितर हैं देव हैं मनुष्य हैं उनसे संपर्क तो हमें रखना होगा और उनके संपर्क में उनके अन्याय से हम भी कहीं ना कहीं पीड़ित होंगे बाधित होंगे उस सब का भी निवारण करने वाला उचित व्यवस्था करने वाला परमात्मा है ऐसा आर्य देख रहा है तो देव कृतस्य एन स अवय जनमसी मनुष्य कृतस्य एन स अवय जनमसी पितृकृत एन स अवय जनमसी आत्मकृत एन स अवय जनमसी एन सह एन सह अवय जनमसी प्रत्येक पाप को तो आप ही दूर करते हो पाप की औषधि महा औषधि अंतिम औषधि वो परमात्मा है यच्च अहम एनो विद्वांस चकारा यच्च अविद्वांस तस्य सर्वस्य एनसो अवय जनमसी बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में ये बात हम हमारे लिए कही है महर्षि ने जो दूसरा संबोधन दिया है परमात्मा को हे महानंत विद्या महान और अनंत विद्या वाले हे परमात्मा ये दोषों को दूर करने वाला वो ज्ञानवान सर्वोच्च परमात्मा है वही हमें इन दोषों से शीघ्र छुटाएगा छुड़ाता है परमात्मा की सन्निधि हमारे साथ रहे और हम परमात्मा को इस रूप में देख सकें आर्य परमात्मा को इसी रूप में देखे ये महर्षि दयानंद का भी अभिप्राय है और ये वेद की आज्ञा भी है इस तरह से अन्यों को देखते हुए जीवन का हम व्यवहार अन्यों के साथ संतुलित करें अतियों में न जा करके और अपने सब दोषों को दूर करने वाला भी परमात्मा को ही समझें कि मैं जब देव बन जाऊंगा पितर बन जाऊंगा तब भी मेरे दोषों को परमात्मा ही दूर करेगा और हम अपने इस अहंकार में न आ जाएं कि मैं अपने दोषों को स्वयं दूर कर लूंगा मैंने अपने दोषों को स्वयं दूर किया है इस अहंकार से दूर रहते हुए दोषों को दूर करने की कामना के साथ परमात्मा को ही इसका करने वाला करवाने वाला परम साधक मानते हुए अपने इस जीवन को हम आगे बढ़ा सकें ओम का उपचार ओ